क्या हो गया जा पहले गिलास पानी ले गया क्या हुआ अब बोल अरे आपका दोस्त आया है व्हाट्सअप अरे व्हाट्सएप तो हम चले रहे लेकिन नहीं भाई तुम्हारा भाई है अशोक हाँ। भाई अशोक भाई यार मेरा भाई अरे बस लेने दे यार अरे मेरे भाई पैसे गिरे यार अरे जय हो लक्ष्मी माता अच्छा चल ठीक है लो पढ़ो यहाँ हाँ जान बैठा हम तो उठते बढ़ते नहाते होते दो ही टाइम जान कहीं बात कर हाँ एक बार तो पेन एडिन बढ़ गया केपरी बेरी दी हमने हाँ बैठो फिर हाँ अरे वहां बैठ हाँ। और क्या गोविंदा क्या हाल चाल बस बढ़िया है सब चकाचक मौज में अरे अपन तो हमेशा मजा मर रहा नहीं काका चाय ले जो कम दूध और कम शक्कर की ठीक है अरे तो शक्कर है नहीं यार बचपन से अरे तो मारो भैया अरे सब जानू तो क्या यार हो गई समझ में जी हाँ मैं हूँ खलनायक यस अभी आई एम कमिंग ओ तारी मारा मत टावर है नहीं टाइम टावर कहाँ किसी में तारागन जियो काका पंद्रह बीस सिम जियो की ओर आज और कहीं सब चला हाँ। अरे अरे बेबी आ रहा यार दो मिनट पूछ तेरे को पता नहीं है कैबिनेट की मीटिंग चल रही और तू यार बार बार डिस्टर्ब कर मेरे को चल फोन रख सुन वीडियो में भले एंट्री तेरी राउडी जैसी होगी लेकिन डायलॉग मेरा होगा तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है तेरा